राम ने कहा परिवर्तन तो धूप है हो गया भाई और अब भोजन कर लें अतो हाँ अपना ही है तो वक्तव्य देखो कितनी अच्छी सुंदर नारायणा है हाँ, कितनी अच्छी छाया है और वहां सब अपने अपने भोजन को निकाले और यहां बैठ के भोजन पर सब बच्चे जो हैं अपना अपना भोजन लेकर के बैठ गए और भोजन कर लेंगे बच्चों हो बछड़ों हो घास चलने के लिए हर फिर देश जहां हरी हरी घास को वहां बछड़ों को छोड़ दिया बछड़े सब लोग और तो सहस्रों की संख्या में जाल डाल थे तुम्हारे ये चाहता था तो मैं श्री कृष्ण के सामने बैठ करके रही हूं श्री कृष्ण की पीठ की तरफ थोड़ी कोई हर एक काम नहीं होता तो मेरे सामने बैठता हुआ बातचीत और गोविंद को तो। भगवान ने उनकी की में इच्छा देखी और तो फिर वो अभ्याना बिल्ड है भगवान ने भगवान ने चारों अपने मुख पर लिए बीच में भगवान श्री कृष्ण चारों ओर बालक बैठे हैं तो प्रत्येक बालक ये समझता था कि मैं भगवान के सामने बैठ बोलकर बातचीत कर रहा हूं मंडलम एक पंक्ति में एक पंक्ति में लग तो उसके बाद हरावे हरावे बहुत बीच में लगते और सबके सामने धर्म भगवान के साम व्यक्त करके सम्मुखा अभता गौतंत मंडली स्थिता हमको दे देगी किसी ने कमल का पत्ता तोड़ के अपना भोजन में रख लिया इसको किसी ने बहुत कोई बड़ा पत्थर लिया या शिला उस पर रख लिया अनेक पाप हो किसी ने दिन दिन काट के लिया या घास के ऊपर अपना भोजन रख लिया केचित पुष्प गलेंगी इन पुष्पों के गलते हुए उत्तर के रोग निकल और भगवान का श्रम का स्वरूप देवरा ग्रहणी जठर श्रम में वेद के कक्षे दान पालन मसन का तत्फलान तिष्ठन मध्य स्वतर स्वरूप हाथ नर्म ही स्वयं स्वर्गीय लोग के मुशत भूजे यज्ञ बाल पूरी भगवान ने अपना प्रेमी को अपने भोटे में रस रखा है जठर कतल पेट और भोटों के बीच में और सिंह और गैन गांव दाएं बगल में लगा रखे हैं और एक गाय हाथ में ग्रास ले रखा और अंगलियों में ये आचार्य आचार है तत्फलांशु आचार है और अपने मित्रों के बीच में बैठ करके उनको हंसाते थे अपनी चलना वृंदावन को लौट करके आया है न वहां बछड़े हैं न ग्वाल ग्वालिया है भगवान का क्या है अगर हम लौट करके वैसे ही चले जाए तो क्या तो बंदरों की दशा होगी कोई तो बंदरों दूसरी नहीं होगी और जो है गोपियां रोगों करके मर जाऊंगे कहीं ना कहाँ लगे हमारे बच्चों के कहाँ है तो भगवान ने फिर दिया तथा कृष्ण भगवान का रत्न ब्रह्मादि नाम उपस्थित है वो गऊ और गोपियों का हित करने के लिए उनको प्रसन्न करने के लिए और ब्रह्मा जी को भी अपना चमत्कार दिखाने के लिए वो ग्वाल वाल और दशरों के रूप में स्वयं ही प्रकट हुए बोलिए श्री कृष्ण यावत् यावत् परां जातम् यावत् यस्ति विषां गुणदर्शित यावत् सर्वं जितनी संख्या में बछड़े थे एक ही उसमें कम नहीं है और जितने भी ज्ञानदान थे और जितने भी जैसी उनका शरीर था यावत तमाम ज्ञान अगर उस किसी बालक के छह अंगुली हो तो छह अंगली वाले बन गए अगर किसी के छह अंगली और पांच अंगली वाला लड़का व्यक्ति तो कहती है उसकी मारी गई जमीन का अंगुली तो यावत कराम राजकम जैसे जिसके हाथ से उंगली थी जैसा जिसका रूप था जैसे जिसके पास लाठी थी जैसी बंशी थी जैसा उसके पास वस्त्र था भोजन जिसमें नाम के लाता था जैसा आभूषण जिसके पास जो था और जैसा का स्वभाव था वो सब रूप में वैसे जो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए ये जो शास्त्र वेद कहता है सर्वम विष्णुमयम जगत वो बात वो ज्ञानी को भगवान ने प्रत्यक्ष कर दिए तो उस समय आप कह सकते हैं सर्वम कृष्णमयम वो जो जगत है अपना तो श्री कृष्णमय और आत्मा की देवत्ता प्रतिभा रोज कहते थे अरे वो शाम का लोहिया जो गलियों को लाओ और सबको इकट्ठा करो और चलो अपने आगे हो जाओ और और गलियों को नहीं चलो क्रम से जैसे आदेश देते थे और आज भी आदेश दे रहे हैं तो स्वयं का आदेश दे रहे हैं स्वयं आदेश का पालन कर रहे हैं आदेश देने वाला अलग नहीं है तो पालन करने वाली पालन करने वाली भी नहीं आदेश देने वाले भी स्वयं आत्मा आत्मदेव स्वाम प्रतिवाद आत्मव्यक्ति पूजन आत्म जो है उससे सर्वात्मा प्राणशब्द हो आप सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण ही स्वरूप में दुर्गम प्रवेश कर रहे हैं तत्त भक्तान प्रसंगी क्या और वो बछड़े जहां जहां जिस घर में जाया करते उसी दीदी से अपने पहुंच गए वहां बैठे तो अब कोई भेद मालूम नहीं हो रहा है वैसे की वैसे अब जब गौया आई तो गोष्ठ में आकर के उन बछड़ों को बड़ा प्रेम से चाट रही है मोहन मोहन क्या सर्वदय वजन पर उनके धनों से दूध चो रहा है और बछड़ों को चाट रही है गोपियां अपने बच्चों को लेकर के हृदय से लगा रहे ये केवल इतनी विशेषता थी यानी वैसे देखने में वैसे कोई अंतर नहीं मालूम होता है पर गर्मियों के बछड़े आप ज्यादा प्यारे लग रहे हैं तो बार बार रहेंगे और उन गोपियों को अपने बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं वो हृदय से लगा रहे हैं प्रबंध के आंसू कर रहे हैं स्नेह अधिक है और कोई बात नहीं भगवान जो बच्चे हैं पहले वो बच्चे उनको अपना माता पिता मानते थे आज ये भी सोचता है तो बच्चे उनको अपना माता पिता नहीं मान रहे और वो वो पर जो है वो उनको अपना बच्चा मानकर कोई अधिक नहीं कर रहे हैं हर एक सुख का हमारे आदमी क्योंकि तो साक्षात भगवान ही है वो उनको क्या हमारे मान नहीं इस प्रकार नित्य प्रति प्रीति बढ़ती है यथा कृष्ण पूर्वक एकावत्तु वैष्णव श्री कृष्ण ना अपनी मंदिर वो लड़की विषमता को तो भगवान जी दूर न कर सके इतनी विषमता तो रही कि वो बछड़े गौरों को ज्यादा प्यारे लगते थे और बच्चे गोपियों को अधिक प्यारे लगते थे और इस तरह एक वर्ष व्यतीत हो गया रोज जंगल में जा रोज आए रोज जाए एक बार बछड़े वहां चल रहे थे वृंदावन में और गोवे चल रही थी गोवर्धन की तो दोनों ने अपने बछड़ों को देख लिया नीचे से और बछड़ों को देख करके उनका इतना प्रेम उमड़ा दोनों का तो रुकी उनकी ऊंचे पूछ करके गर्दन से दौड़ करके दौड़ी और दौड़ दौड़ करके दौड़ती दौड़ती है अपने बछड़ों के पास आकर के उन बछड़ों को चाटने लगी जो ग्वालिया लोग हाथ में डंडा लेकर के पेड़ में घर दौड़े आए और आकर के जब उन्होंने अपने बालकों को देखा तो वो भी अपने बच्चों को गोद में लेकर के प्रेम से क्रोध का उनका निरत हो गया वो भी उनकी आंखों से प्रेम की आंखें गिरने लगे बलदाई जी ने देखा कि ये क्या था है बलदाई ने देखा कि इन दुर्गदासियों का अपने बालकों का इतना प्रेम क्यों है तो जी ने घर से भी ध्यान लगा करके देखा तो वो सब ग्वाल बाल बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई दिए मलदाल जी बोले हे कृष्ण मैं तो ये समझता था ये बछड़े तो ऋषियों का अंश है और ये जो ज्ञानवान है वो देवताओं का अंश है पर मैंने इस समय देखा है तो उन सब रूपों में तुम्हें दिखाई दे रहे हो क्या बात तब भगवान श्री कृष्ण जी का गाय दादा वो जो गाल ग्वाल बछड़े हैं तो ब्रह्मा जी ने लेकर के ले जाकर चला करके रख दिया ये तो मैं ही रूपों में प्रकट हो रहा हूं तब एक वर्ष के बाद बंगाल जी को पता चला इस बात बंगाल जी को पता नहीं था ब्रह्मा जी ने देखा जब तो उनका एक वर्ष हो गया चल करके देखने तो सही और क्या दशा होगी या ब्रज की भी आगे बच्चों के लिए तरस रहे हैं वहां जाके तो ब्रज में तो आनंद आ रहा है उस सब मंदिर में सब कोई कोई शोक नहीं कोई लोग नहीं कोई नहीं ब्रह्मा जी ने देखा आकर के वो बाल बाल बछड़े जो जाओ हमने कहा हम क्या छिपा कर रखे है हैं वहां से लेकर तो नहीं आए वहां जाकर देखेंगे क्यों देखना पड़ेगी ब्रह्मा जी घर जाते हैं और घर जाते हैं तो दोनों के दोनों एक से बिल्कुल भेद हुए और ब्रह्मा जी को स्वयं अपने दूसरों को मदद करना चाहते अपने भी मेरे में करने से एवं चिरम जाता सत्या के इतरे के हित इतरे के एक जाति समर्थन सत्या के इतरे इनमें सच्चे कौन से हैं झूठे कौन से हैं वो ब्रह्मांड को पता नहीं था और भगवान ने क्या चमत्कार दिखाया भगवान का क्या चमत्कार हुआ भगवत तो ब्रह्मा ही केवल शरीर निर्माण करके देते हैं जीवात्मा को नहीं बना सकते है ना और भगवान ने उन शरीरों का भी निर्माण किया और जीवों का भी निर्माण अलग कर दिया तो ब्रह्मा से तो ज्यादा काम किया ना ब्रह्मा को तुम्हें एक शरीर बना के दे सकता है जीवात्मा और भगवान ने वो जितने ज्ञान बावर बछड़े शरीर भी उनके अलग हैं तो उनका जीवात्मा भी अलग है आप ब्रह्मा जी जो है उसी यही चिंतन कर रहे थे कि भगवान ने अपनी माया का और चमत्कार दिखाया तो सबके साथ ज्ञान बाल और बछड़े तो ये तो दिखाई देते हैं सब चतुर्भुज रूप में भगवान भगवान दिखाई दिए घनश्यामा पीतांबर भगवान चार दिन की भुजा शंख चक्र गदावर अपने हाथ में लिए हुए हजारों की संख्या में चतुर्भुजी चतुर्भुज उधर देखने और फिर और क्या चमत्कार दिखाया कि ब्रह्मादिक देवता एक एक भगवान के सामने सब खड़े हाथ जोड़ की स्थिति कर तो ब्रह्मा भी अलग है जो स्थिति कर रहा यानी चतुर्भुज भगवान के चतुर्भुज रूप अनंत और उन एक एक भगवान के सामने ब्रह्मादिक देवता ब्रह्मादि देवताओं को लेकर के स्तुति कर रहे इतना ब्रह्मांड नहीं ब्रह्मांड भगवान भी अनंत तब तो उनका अभिमान दूर हुआ कतो कि को एक साथ हंस की सवारी से कर गए अभी तो हंस पर बैठे थे इतने थे करके निज महिमनी स्वप्रमुख देखे वह ब्रह्मा की जो है एकदम तीन निर्यत सती तो भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्रह्मा जी ज्यादा व्यापक हो रहे हैं और भी अपनी माया का पर्दा हटा दिया ब्रह्मा जी की आंख खुली है तो देखा कभी अकेले भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों को भूल रहे हैं तो बछड़े कहां हैं उनको भूल रहे हैं ये दृष्टा देख करके ब्रह्मा जी जो है उन्होंने अपने सिर पर से चार जो मुकुट उनके सिर है ना चारों मुकुट उतार करके भगवान के चरणों में रख दिए हाथ जोड़ दिए हाथ जोड़ करके गदगद वाणी से बोले से नौ ब्रह्म से परिलंबाओ गुञ्जावकम् सपरिपुच्छमलसम्मुखाय दम्यस्वदे कवलवेत्पुरुषाणिन्दे मृतपदे पशुपान् ब्रह्मा जी ने बड़ी या निर्गुण स्वरूप की कोई महिमा का वर्णन कर दी है तो आपके सगुण स्वरूप की कौन महिमा वर्णन कर सकता उसके तो अनंत गुण है इसलिए तत्व कंपाउंड समीक्षण भूजान एवं आत्मप्रसन्न जाती नमस्ते जीवे यो मुक्त प्रदेश दायका ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं हे भगवान अगर ये जीव तीन साधन करे कौन तीन साधन क्या है तो एक आपकी कृपा की प्रतीक्षा करे आपकी कृपा का अनुभव करे प्रारब्ध से जो मिल रहा है उसमें संतोष करे और आपका गुणगान करता करता है भैया तीन साधन बहुत हृदय नमस्ते हृदय से वाणी से प्रेम से आपको गुणगान करता है जो ऐसे जीवन व्यतीत करता है वो मुक्त पद का मुक्ति पद का अधिकारी होता है मुक्ति के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है जैसे बच्चे को अपनी पिता की संपत्ति के लिए डरना नहीं है उसकी पिता की संपत्ति तो मिलेगी उसका हिस्सा है ऐसी भगवान की संपत्ति जो मोक्ष है उसमें तो हम हम गाय भाग है हमारा हिस्सा है मुक्ति तो हमको मिलेगी क्या करना चाहिए कि भगवान के कृपा की लाभ देखो भगवान ने दे दिया इसमें संतुष्ट रहो तो भगवान को गुणगान कर दो ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज मेरे अपराध को क्षमा करना मैं तो ऐसा हूं जैसे आपके पेट का बालक जैसे माता के गर्भ में कोई बालक होता है और वो अपने पैर में पटकता है माता उसको अपराध थोड़ी समझती है ऐसे हम भी आपके पेट के बालक हैं उत्क्षेपणम गर्भगत कल्पा पदकल्पा मोक्ष जागते किमस्ते नास्ते व्यपदेश भूषितम तवास्ते कुक्षे यदत्तनंत ये ब्रह्मांड और इसमें ये सप्तपति सात विलायत का इसमें कहां मैं और कहां आप ऐसे ब्रह्मांड आपके रोम में आते जाते हैं रोम छिपे <coughs> तो आपके सामने हम क्या हैं यश कुक्षम सर्वम आत्मन बहुत ये साधक है तत्कई अपी है तत्कर्मी किमदम भाव आ जाए इस प्रकार ब्रह्मा ने भगवान की स्थिति और ब्रह्मी जी ने एक बात कही स्थिति करते हुए कि ये बंध और मोक्ष क्या है बोलो अज्ञान के दो नाम हैं ये न मोक्ष है अज्ञान संज्ञो भगवन गमोक्षय नाम नान्य स्फुटज्य भाव अजस्व के केवले विचार विमाने तरणा हम अरे सूर्य के सूर्यमंडल में न दिन है न रात है अरे हमारे यहां तो रात दिन होता है जो जो जीव सूर्य मंडल में रहते हैं उनके लिए रात दिन है क्या कुछ वहां पर प्रकाशन प्रकाशन में रात दिन ऐसे जो आत्मज्ञानी हैं जिन्होंने अपने आत्मतत्व को समझाया तो उनके लिए जब कोई दंड है मोक्ष दंड मोक्ष किसके लिए अज्ञानियों के लिए अज्ञान संजय भगवन धमोक्ष जो नाम नाम स्थिरित भाव है रामात्मा परम भक्ता परमात्मा नियोज आत्मा पुनर्दह मध्य आरोग्य जनता देता हमने राम आत्मान परम मध्य जो आत्मा है उसको तो शरीर मान लिया और शरीर को आत्मा मान लिया ये अन्योन्याभ्यास चिज्जर ग्रंथि इसमें खोया हुआ जो आत्मा है उसको हम बाहर ढूंढते हैं ये देखो हमारी मूर्खता तथा तेजेव तदाप्रसादेशाम गृहीतेरही जाना तत्व भगवन्न हिन्यो निचान्ये को चिरंग शून्यम यद्यपि दंड नाम की कोई चीज नहीं है जीव का स्वप्न में ही जीव जो जीवात्मा का बंधन नहीं है तो भी आपकी माया के द्वारा ही बंधन जीव को प्राप्त है बिना आपकी कृपा के लिए नहीं होता महाराज ने तो अपना बड़ा भाग्य समझ लिया कि आपके भक्तों में मैं एक कोई बन जाऊं और आपके चरणों की सेवा करता हूं और उसमें भी गोकुल में आपके तो गोकुले हैं आपके तो लोग भी भी गोकुले अगर गोकुल में हमें कई कोई जन्म मिल जाए तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप ये बताइए कि ब्रजवासियों को क्या दोगे एक शाम घोष निवास था तो भगवान तीन में रहते थे बोले मैं तो विचार करता हूं आपके पास इनको देने के लिए कोई चीज नहीं क्यों हमारे पास क्यों चीज नहीं है अरे इनको मोक्ष कर देंगे वैकुंठ दे देंगे ये हमको प्राप्त हो जाएंगे तो तुमको प्राप्त तो देश करने वाली सूचना भी हो गई पूछना में भी तुम्हें प्राप्त कर लिया और जिन्होंने इतना स्नेह किया तन मन धन तुमको अर्पण कर दिया उनको भी वही चीज दे इसलिए सूचना को जो वस्तु मिली है वही प्रेमियों को अगर दे तो के ऋण से आप लोग नहीं हो सकते मैं समझता हूं इनके देने के लिए आपके पास कुछ है श्री कृष्ण विष्णु कुल पुष्कर दोषधारी क्षमा निर्दर द्विज पशु दुर् वृद्ध पावन उद्धर्म सागर रक्षित राक्षत आकल कुमार समरण भगवान नमस्ते लो महाराज और मैं कल घर के लिए आपको प्रणाम किए देता हूं ब्रह्मादि भगवान के जन्म में प्रणाम करके त्रित परिश्रम और यहां कहते हैं कि तीन परिक्रमा पहुंची श्री कृष्ण की अग्नि की सात परिक्रमा होती है गणेश जी की तीन परिक्रमा होती है दुर्गा की एक परिक्रमा होती है विष्णु की चार परिक्रमा होती है तो चार परिक्रमा करनी चाहिए थी तीन क्यों इसलिए इस कारण में दूसरा कर देते हैं त्रि को परिक्रम न करके त्रि बच्चा परिक्रम में में भगवान की परिक्रमा करी और तीन बार प्रणाम करके फिर अपने लोग को चले गए ये श्री कृष्ण भगवान परीक्षित बोले महाराज ये बताओ कि जब भगवान श्री कृष्ण बछड़ा बन गए तो गरुओं को ज्यादा प्यार क्यों लगते क्यों छाटते होंगे और जब श्री कृष्ण ग्वालबान बन गए उनकी माताओं से ज्यादा प्यार क्यों करती सुखदेव जी ने कहा कि श्री कृष्ण सबकी आत्मा है और अपनी आत्मा सबसे सबसे ज्यादा प्यारी होती है तो असली जो तत्व था वही उस समय वो जो बालक और बछड़े थे वो पंचभूतों के नहीं थे पांच भौतिक शरीर नहीं थे वो तो सच्चिदानंद रूप ही तत्व था वो तो इसलिए बिल्कुल वो जितना अच्छा नहीं लगता जितना मिश्री अच्छी लगती है और वो भगवान श्री कृष्ण पर सबकी आत्मा ही नहीं सर्वेशा में भूतानाम यद स्वात्मी लगा पितरे तत्व वित्ताभ्यास तद वल्लभ तयु ही देहात्मादिनाम पुरुषाम अपराजन सप्तमा यथा देह प्रियतमा तथा यम नेचतम इसलिए सबसे अधिक अपना आत्मा प्यारा होता है और वस्तु तो आत्मा की भी प्यारी होती है कृष्ण में मनोहितम आत्मान अखिलात्मना जगत जिता जो वास्तविक जानते हैं वस्तु को जानता मत कृष्णम स्थास्म से विष्णु से स्थावत कर ये चराचर जितने भी प्राणी हैं सब भगवान श्री कृष्ण का रूप है समासुता पद पल्लव प्लवन नवत्पदम तो यशो मुरारे भलाम्बुदत्त पदम पद परम पदम भलाम्बुदत्त पदम परम पदम पदम पदम यदाम मुतेशाम ये इदम श्री कृष्ण से चरितम यह श्रोति चारती सर्वार्थान प्राप्त हैं इसके सुनने की परिस्थिति क्या है तो उस इसको ध्यान से सुनोगे श्री कृष्ण जगत को तो तुम्हारे साथ कामना पूरी होगी बोलिए श्री कृष्ण भगवान